तो दोस्तों अगली आइटम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ छोटे कलाकारों जो उम्र में छोटे थे लेकिन फन में बड़े थे अब हम बड़े कलाकारों को पेश करने जा रहे हैं थोड़े से संतूर वादन और आग मधुबंती भी पेश करेंगे हरजिंदर सिंह जी जो हरजिंदर सिंह जी आ, संतूर के माने हुए सबसे बड़े कलाकार जिनको कहना चाहिए पंडित शिव कुमार शर्मा के शागिर्द हैं वो आपके सामने आएंगे और यूसुफ महमूद तबले भी संगत करेंगे यूसुफ महमूद जो हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के शागिर्द हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का जब भी नाम लेता हूँ तो बड़ी प्रेम से बड़ी श्रद्धा से उनके प्रति मेरा माथा झुक जाता है मुझे उनसे मिलने का कई बार मौका मिला था और उनके साथ मुलाकातें भी रिकॉर्ड की अल्लाह रखा खान साहब के बारे में आपको ये भी बताऊं कि अल्लाह रखा खान साहब मशहूर सिर्फ तबले की वजह से नहीं हुए उन्होंने बहुत सी तेरह फिल्मों का म्यूज़िक भी दिया था जिनमें पंजाबी की बड़ी मशहूर फिल्में थीं रस्सी उत्ते टंगया दपट्टा मेरा डोलदा ये अल्लाह रखा खां साहब की करामात थी तो उनसे बड़ी बातें हुई अब बातें हमारी यादों में महफूज हैं तो आइए यूसुफ का नाम मैं ले रहा था संतूर वादन अब होगा हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वो स्टेज पर तशीफ लाएँ